给你一张，给你一张。也把把把天天把脸脸不怎么把把把怎么了？把脸在这从俺家被人家都脸。अरे बेटी से आइए आगे आ जाते हैं ऊपर मरे उठ उठ उठ उठ उठ भाग दे पानी पानी पानी अभी आप दम तो हां पाजी आ हाँ, पाजी आप दे उठ फट मरेगा निकल निकल निकल निकल पानी पर कमा गई भाई ये ज्यादा तो पूरे की हवा में મારું જોઈ ને એ તો મારા ઓમ ના તે મો દેવતા ને તો મુઈ કોઈ મોકલો કઈ મેં જાણ ફરાવ क्यों यहाँ बाहर बच्चा आई ना जी कितने बाहर कहीं फर्क है ફરક તો ચક્કર આવે बस चक्करी लियो बतो हाँ। और तो कहीं चीज नहीं गई હા. नहीं वे जो हंस गई थी दूर से बोलने ભાઈ, के जीवरी है और चक्कर जीवरी और तो भी जो अपेला चीज ना है नहीं है कौन ना हां वो भी है वो भी है या गर्दन आगे तो आगे फिर पर कैसे Ah! व्यापारमध्ये देखो जोड़ की नहीं बोलना वे हाँ, जो मुंडा कहने में चीज मारिया है वाह अड्डा आइए पैसा मारे फर्क दी के तुम्हारे तो कहो तो मत हो मारे वही ने मेरो ने तो बनाने भाई मेरो बनाने मारे मां का में शक्कर करो पड़ लियो मां को शक्कर काट दो तो मुंह पे काट ये नहीं जाए किसी को क्या नहीं जाए हार बनाए जे हार में मनते मेरे से हार हार खराब हो जाए મને હું જીવું ત્યાં તો થોઈ કેતો કરી કાય મને મને હું પાસે જીવું હા પાછા તો ઉલટાવડે ન્યા મરવાડે હું પાસે જીવું પાછા તો આવે પાછા તો ના આવે પણ તોય મને કાય ગેલો તો હવે લાડલે ને મરવાડે આ તો સાહેબ રાખો મોટો સાહેબ ની માર બજો દેતી હા થારે તો બોલ મે જાઉં ના ના બજો દેતી હા जरूर जरूर बोलजोड़ो तैयार हो डब डब ने घोड़ा घोड़ा घोड़ा पे ना दीजिए हां घोड़ा ना ना दे हां ना दे मुझे पड़े मार दो सकर है आज मारी है मर मारिए તો બેમારી માર મઠણી થાવે જાય ઈને શું કામ કરજે મારી જોત કરી ઈને ગોરામ નામ દીધી હા આ મેં ગોરામ નામ દીધી આ જોત કરી સાજી બસ આઈ જાતા તો હા માર આઈ જાવ આઈ દે મારી ઓટ બીજી મત બોલજે બમણે બોલ તો હોસે ને કહી દે મને કાવી ઉજે તને ઉજે તું કેરી તને કહી દે મોત માં 5 ટકા આપી દે મને જી आया तो तो तो काम काम आई हूँ हाँ पहले काम हाँ आगे आते तुम आगे आगे आगे आते आगे तुम डबल एक मिनट बिना बस हाँ आवे एक तुम मोटी आदम बस या देख भाई एक शो काम कर दी तू जी जब तो नहीं याद भाई पहला भाई को माता है हम आज नहीं बुलाएंगे जी तुम चिंता जी हां छोड़ दे बहुत आवे तो ठीक है ना आवे तो ठीक हाँ। जा लेते हैं बहुत तो चिंता जी समझा जी काम नहीं जब जाई लड़की उठे मर आवे तो दे अल्लाह बात हूं एक अरे ई पार भोग में जो हाँ? हम्म। बुझाव काम येता खेळटा चंपाक जाते ताटी बंग पाच नऊ पाच तिच्या पण येऊ जाय चित्र ते पुता और और ते जाऊ मारा हाल काम दे को दे आ क्या जाने सा मारा काम दे को माता रे हाल देख रे हनुमान तुम से पास आऊं सके नहीं सही सही केनो पड़ी घंटा काम हाँ। इसे आ ना माता तू दवा लागी जे देश को इन काय केड़ो जो कहते मार काम और पहले मैं आयोडा एक बार पहले कहाँ तेरे कहाँ का आयोडा में तुम तो काय तो काम आई और तुम काय आध घंटा ठहरता मैं पास आई थी आध घंटा में जाना कोई आग भाग दे तो आध घंटा में आई था तो पास बैठ हजुर हजुर भन्नु पास या या बाबा जो मैं यहां पास यार कह रहा हूं ये बोली तो जामा के दे पास हाँ। बाहर आ जा भाई तो अब यहां पास है भाई है भाई तो पलटो खाया ना ना हां और पलटो खाइए हाँ। हम हम्म। बाकी दोन पाजी पाहिजे आमचा पाच एक जीव आबाद माने जाणी पाणी म्हणा आई ते काय करत ते अते माने हाँ घर घर का चक्कर ना काटा महाराज महाराज आप लोग प्रभार सब प्रभार एक दिन आप मुंह बाल बाल लड़ा ये तरह क्यों कर दीजिए कर दे મારું ફાલોડાની હું ઘરેદાર ભૂલી છે આ બા ટેમ હું તો ફલા ટેમ કે મને મારે ઠાકુર જીમાં સાતા આવે તો પાછું મારું જીતવા ના જઈ સમજ્યા અને હવે તો જેમ પીને ઊંડા ભાવ મને મને મારી મૂર્તિ દઈ બરાબર ના ના આ હાકી આહા हम हम नहीं करते ये काम क्यों आया पाया मासी में एक चीज है एक चीज नहीं आजकल बात है बल्कि आज भी बेमान आदो तो काम करे आदो का अपाचन वे काम ने किन्नो दिन करी पूरा किन्नो रे क्यों आदि चीज तो जरा आदि नहीं सब एक दो चीजें ले आयो जी हां और रोज भी हो छोड़ दियो छोड़ तो जब मैं के मां काम करने जा मैं क्या करूं जारी काम ने भर के लेता आ भर के आगे ने मोबाइल पार को तो, मोबाइल पार कर दो मो पास ही मुझे झेल पार ले थोड़े सा बजा हम्म। भैया बजा ले મને કોઈ કે બાપ ને અરજો કે ને પરથી હું દેતી રહ્યો હું લેવાજી હું સાંભળી રહ્યો હું તો લેવ તો રે હેલો બહાર લેવ મને કોઈ બાપ ને अकबर जी मैं बढ़ती रही हूँ भी बीगी बीर फेर उठती हूँ नाम नहीं तो बीको बीगी दार दूर दार नाम लेवा मारे उद्योग लागे नो नाम नहीं न जुबी बिके चीज बस आगे जुबी वो रोड से उस आगे हम्म। तो तो आदम काम करे आदम नगर में उतार करे लाता कुछ लड़के कर दे महाराज हम तो नंबर लोग Ah, left. Pump, pump, pump, pump. पाँच है मेरा क्या हाँ। आठ आठ हम्म। ये नौ यहाँ का ढेर बदल हम्म। बिन दार दे दीजिए दे दे हटा हम्म। और चक्कर तो होना मटे बैठ क्यों चक्कर तो वो काम कर देता है तुम्हारा हां तो चक्कर हो रही है जो तो मैं गार्डन मेडवा गार्डन दूसरे मो कटे मो बंदन नीरे मो तो बांडी उरे गेली आंखें तो आंधी हूँ कानों बेरी हूँ दादा घर के मोटा उठो रे हाँ। और उनसा पकड़ दी समझे उबो घर के मोटा मकान के मोटा उबो तो अगन उसा पकड़ दी पकड़ दी मकान में ये दिन बारह बारह समझा मर के पड़ गए हाँ, बारह में कर तने केवत के करोगे हाँ, तो घर के मोटा चौक में उबोरे रे चौक में उबो पकड़ दी पकड़ दी थाना ये ई पारे मकान अंदर है है, ना उतरता मुख्य के तेल के देगा आपको जाओ लो भी मुकाम से ज्यादा आगे हुआ उतरता मुखसर की हाँ। तेल के दिन एक आदमी खत्म है और ब्राह्मण ने जान कर दी कहती चेता जो मान पे बाग जो गिलो बताते हैं माने बना सारा गुरु दिल पर कोई सेट દે હમ ગુરુ क्या ग्राम की बात है कई हारी बीमारी की आजाली रबी मत आपण का जाजी जी जी पीड़ी दादा ने तो उठ जा आपण का भट जी जी जी कर जाता रे तो तो मारे भी तुझे की बात जी की जीव गंजे जो करता रे काम मारता तो है तो घर में बीमारी दो तो की की तो गाड़ी की की ने गाड़ी से काई होता है बीमारी काम था काम होते कौन हां तुम एक बार बेटा चार बार बाल लगा के तुम हम चाचा काम सुन दे मैंने कहा तुम्हारे वो कहाँ मिलेगी तो और आप बजे करो और आप बजे करो हाँ आज इमके आज वाले के बाद मुझे थोड़ी शाप नहीं मुझे बुला बंद दियो मुझे थाने गेला बताए तो गेला थाने पर कई काम करो जो थाने गेला आज मुझे बात कही कियो मैं खुद को काम शुरू कर दियो आज मुझे अतगुणी बताइए ना एक दो तीन चार को पांच एक दो तीन चार को पांच ठीक है बताइए तीस दाग क्या दो ये पांच ईद के तो हम गया मेरे दुख कर दीजिए अरे दुख कर दीजिए आतरसू और को हटी आज की बात है जितने मन का ही जो है नहीं देखो भाई इसकी बीमारी तो है मेलो पातन साफ कह रही हूँ मुक्सर के महीने उतरते महीने बीमार चले ली ಈಗ ಪಾಪಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣಗ ಕೊನೆಗೆ बीमारी में पहले औलाद बता रही औलाद ना कर लीजिए तो शबा खाना समझो डॉक्टर समझो साहब मना समझ तो तो तो कर देवता है देखिए शिव छपा कर आडा वाला नहीं कोई लकी दिल आडा वालो हमारी मतलब जटा पेरी के लिए कोई भी मूत का भी आडा होने के में ये तो आड़ी आनी चाहिए ये चार तीन मिनट बता रही हूँ तीन मिनट में आला पावे वाली ಹೇಳೋ పో ಕೇಳಿ ತಿನ್ ಬಡಿ ಮಾಡ ಹೋಗಬೇಕು ದಿವಗಳನ್ನು ಅತಿ ಬಾರ್ ಕೇಳಿ ಜಿಮೆ ಜನ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಂತ ಕೇಳು ದಾನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋ ಬಾರ್ अब बोलने का मतलब क्या है युगो मैं और कर और कर दिया आपके जाड़े लो भाई दूर जाड़े क्यों भाई अपना की बात दूर जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए जाए लगी आज की की बात हम आज पूंजी की बात मुझे हमसा के खने थन के खने तू इस बार क्यों है मुआवजा तू कर बाकी तेल बाल जो મને કેવો કરે કરે કઈ કેવે કઈ કરે કઈ જાઉં કઈ ગ્રુપમાં મેં તો જાણા था हाँ, मैंने मनिक्य हाँ मैं जाने के क्यों था तो क्या मंचा तो थे था का लोग को कर खाओ तो मनी खुशी है तो पांच वो बाहर काट दिए तो बाहर से खाना तो केवे जाने करम घर करना कोई है त्रियो की नदी जा कर भगत हो जान दोस्त हाँ। एक भी काम कर दी लड़का ने वो आके गई गाबा खुला लड़का का ये आटा मुसो कर बस टिकट पाई ना पाई शाम का होला मैं आत्रा हाँ, में आया बेटा अरे माई तो यार एकदम देखियो गाड़ गाड़ हाटी ले नहीं ले लेत नहीं पर पर जो हां डाल लेत नहीं ध्यान देते पर पर जो यार का काम वो मार फटा बुरिया नहीं जीवन होगी आ आ બિલ બિલ લડકાને શું કામ કરે ભાઈ હા બિલ લડકા આટો દે હવે લે યો બી આટાને મકરો દી કે દિલ કાકા મસલ મસલ દિયો મન હા ભાઈ બરા ખોદરે ગાબા બા ખોદરે કઈ દેમાં મારી આ ધાર આયા તો હવે ऐसे ધારી માતી भी मैं भी ધારી लो बार बार बार बार बार बड़े बार बार कर बार कर बार कर ತೇಲ ಇಬ್ರು ಬಾಡಕು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಭಯ मुन्नी आवे ना सारी मुन्नी आते पर गबा तो बहुत बड़ा झटके ने था हाल में दादी आज तो काम है जा करो यो काम बड़ी बात है बात का तो काम तो- सुबह पाछे રામ દેજો દેવડો જોત કરજો જો ગોમૂત का छांटो कटे कटे पड़तो जावे बिना बिना परा काट दी करना खाजा कर दी कर दियो हाँ वो आज कर काट दियो सांचे ताजियो कर दी देख दियो मन अपसा मनार ओड़ मुझे कोई बात और जो और बताओ था मने खुशी है सुधार गीत से उसने गीत है फिर उसने उसी को जाए दूसरा गीत ले हाथ में है बात मैंने पहले यहाँ नहीं मुझे पहले का इधर कोई थती नहीं पूछे बतरी दुनिया में अब पूछिए कहीं तो पूछ आज पूछिए तो बतरी मेला में हुआ हुआ हाथ बटको हुआ तो नहीं वो ही आई नहीं आवे मतलब पेल का कहती थी ही पेल के की धुन के कोनी पेल के धुन के मन का के मोशा का वैसा धन धा जाए कोना तू तू ही तो बगार वाली तू ही करवाली तो तू मैंने तो देर तो बैठ के काला खेत की और कई कुछ दोन कांड मारा हम्म। वारी को नारियल बोल पास भी एक लड़का को यहां पे दिखते काम टोयोड है मारा पनवाला कोर भी को हां पाछी आ गया पाछी आ पाछी आ जाओ कदी हजार कदी तो ये बम पाछी हम इसने जब जा एक सिंह लड़का ये उल्टो काम हाँ। नहीं हो रहा काम कर पाए दादा दादा हां मैंने बेटे take this oil trying to make up and we'll put atta on the, on the floor on the cover him there and then he'll arrive शवाद बटको और एक नारी उड़िया अभी जेल में आते हैं वाजी बोल रोते रहे तो बस जाती है मार के हाँ जोर दे बेटा हाँ जोर दे પાછી હતી પાછી આ ઈ મનુષ્ય પાછી આવી શું આવે વળી કઈ દેખી આભાર મેલી ને મેરી સાથ કીજી દો इधर પણ મારી વાત આભાર મેલી મેં ક્યું તું નેટા વાગ થ્રેટ ધર ઈ કાન એસા તો ઈ કાન વાંદે પાછી ભાઈ રાજીજી એ ઓટા રાજીજી રાજી જાન ઉઈને કેરી ઉપર દેખ લે જંત ભસવા રહે છે જીવ પ્રજા જીવ ભસવા રાત સા બેડા પાર કરતે બેડા પાર કરી દે मेरे आगे तो बेटा ने रोड बेटी हूँ मोटी हार दुकान में कहीं वो कीड़ों का देखे जितने मैंने कमार का है जीम बशवारा तो जीम वो बशवार जी कहीं मरनी आ तो गलत सुरी तो फेरनी नहीं आवे हाँ। तो वही गलत सुरी फेरनी आ बशवार तो ये काम को किसने डबो भी लड़का को काम उल्टो है आज आज हाँ, आज हवा जी हाँ, मीटर लगे है ना आज मीटर लगे आज हवा जी में पहले क्यों आगुर मन खटे क्यों मन खटे तो बेटा या कल खुने आगुर करे आप एक दिन पहले मारे बाद बेटा ने मारा क्यों बोलियो ना काम 15 दिन पहले ना क्यों पूछा ना पूछी गांव कर 15 दिन पहले क्यों 15 दिन पहले धीरे पहले जाके आगुर आज मार कोई आदमी मने कोने चीज में जोर को खेवे तो मने होले अगड़ी खेवे सब दोनों बड़ा तो बेटा ने हां में ने मार बाकी ते आपको थोड़ी कर मिले जो तो भाई मार बेटो मर जा सो करे बेईमान फसे मने और बजे के काम करे तो और को ने बात थन में पेन कहता कि वो 50 में था 15 दिन था भंडा में बिजली पेड़ी और बिजली पर मां जान रहा है ना रहा है ना हम से तो भाई तो मेरी उन्हें ही कोने भी को बाप उन्हें कोने जो भी ना रस होता है तो वे नहीं होती है तो मान मान किया तो हां अगरबत्ती की है तो ओ माते पंडे तुको नीरी निकी नाने आपो हुज विंद माल जी पकड़ के गई हो छोटे के दो जरा सर भाई हां लहरे के पास बची ले आ इसी ले आ हाँ। जरूरी की हां हाँ। हाँ, दार दे फूट की दार कोटवाल जी दार में तो दे देना ही कोई बागा ले आ हां बागा पे लागला था जे बागा अरे बागा डी रोड हां पकड़ो भी पकड़ो बस ऊपर ऊपर दीजिए ओ ये आ गो ये सुबह शेर साउंड ले आ ले आया और मांगो ये महीने तो तो सब ले सब ले सब तेरा सब हाँ एक चार पला पकड़ो मत तुम पकड़ो दादा ये उठिनो हाँ वो पकड़ो जो उठिनो चार पला पकड़ बस मैं बस मैं मैं ए हाँ जाओ मसाला हाँ मसाला देते ఇది చోడొకరే అధకులరే అయ్యో హా ఇది చోడొకరు అరే డోటో డోటో డోటో తెగి చోడి వేరు వేజై డోటి इन्हें डोटी चेक कर दो पर सरकार जो कोई मैंने वोट बनने था मैंने पकड़ के चार बना उसा पकड़ के चार मर हाँ जो जो जो जो जो पकड़ो चार ही बनने नहीं हो आकड़ा के करना हां अपने साथ जाए साल जी हां साल ध्यान रखो जी जोर जोर फुट गया अरे बहुत गरीब अरे बाबा भाभी जी मुझे मारे उबो घेर रहे थे मो क्या बना दो देगी तुम एक एक दो चीज होती है एक एक समझ रहा नहीं को नहीं को नहीं എടുത്ത് പഠിക്കുകയല്ല ഉപദേശം एक साथ अखिस बार वारित उरुन वा उरुन उरुन वारचे अरे हाँ जी लेकिन तो पकाम बजा रहा होगा वार वारे वारे हाँ क्यों बस फंग दे फंग दे आहा मार दे तो ऊपर दे ऊपर दे ऊपर भाई दे जड़का समझ गए रे मार दे भाई सब खोल दे মানে এগুলো দিকে ও দেখছি না হ্যাঁ এক ও হুম তিন প্রিয় হ্যাঁ হুম হুম লিখে দেখবেন না हाथ भाई एक अंश कर दे भाई हाथ और है हाथ और तुमने देखो जी बिना हजम कर काट मई हजम कहने को नहीं कहते हाथ और लिया है हाँ। हाथ उजाली हाथ तक दे दिया जी उजाली हाथ तक दे हां उधर हाथ नहीं है बार बार बार बार उधर ही हाथ में दे दिया जे जा एक हां ये दिन तो काट एक ना पड़ूंगा हां एक ना पड़ूंगा फिर अंदर का मारे आगे है ना एक तो मारी भाई प्रसाद अवजार करूंगा जितना करूंगा चेता पेड़ के लिए हां प्रसाद मा, मारो तो आगलो बसन मारो तो तो सारो हां थारी प्रसादी कर गाड़ी हां जा परगमा जा परगमा जा परगमा जा जा भाई पकड़ हाँ। अरे ये लड़के देख रे युद्ध था तो ये ये ये चीज है जी तो आप वो जी बनाए ने जी के मैं सोब दियो सो मिनट डे बालो हमारा हम बारी बहुत बाल काटो दो ही बार हम बाल में तेरे के दागला हाँ। सारी बीमारी काटी ही सारी बीमारी खुद की बात पसंद है हमारे हम्म। शादी रे पूछो ना मुर्शी की तैयारी मैंने गरीब गरीब ने मारे पता आवी की तैयारी बेरो की जिस प्रकार ले आगे बेरो की तैयारी बेरो की पत्थर दी मैंने कहीं नहीं रखा मार के नहीं आए तू हां मार के नहीं मार के नहीं आए तू तो कहीं नहीं जाएगा मार के नहीं गए वासो को लेती नहीं मैं ले तो मारे लेबर की जीत आ तो थोड़ी हां हां तो मैंने तो सोरो आर कियो के ढाई तो तेल मंगायो अच्छा और हुआ हेयर तो साउंड मंगाया अच्छा और ये के तो हुआ हेयर का क्या के उधर का आटो मंगायो अच्छा और के हुआ हेयर का हुआ पाप बताया के बाका मंगाया अच्छा और और तो का का के एक जाकी जागीदार हैं एशियन का बताया इसके तो जाकी का ये बार हाँ ये ये ये बा बा एक चीज खुद की रह रही पहली लिए बैठो जिन्हें आ लिए बैठो क्या सकता क्या हम्म? क्या सारा अच्छा, नहीं का हम्म। पक पक्का ही कोई ओ देख ले एक और देख बहुत तो भी लो हम्म। अब बार देता क्यों फिर भी इतना बच के कितने लड़का को अपने कोई नाम नहीं ले रहा देख मुझ पलक में मुझे आने होता है तेरी चेता मेरी कहीं अच्छी अच्छी देख ये किस्म का डाब लग गया फिर और कहीं चेता अच्छा हाँ, हाँ, समझे ये को जान से पर जब आप जान के मैं आप न कौन आप हमने विश्वास जाएंगे या पर जाता हूं काम पे थोड़ा को तो विश्वास हां बता जी मुझे बात हमरा थोड़ी भी शांति शांति है जी पर है और की ने उधर हाँ। पास कीजिए मारी Var ya Argal Baba Hüda Hüseyin Sömürge.